और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगहबान है और आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं